बना दे कि हम दूसरों के ईमान की सलामती का जरिया बन जाए हमें ऐसा बना दे कि इस्लामी सरहदों की हम हिफाजत करें वहाँ पर पहरा दें ज़िंदगी दुनिया के सारे ही लोग गुजार रहे हैं लेकिन दुनिया के लिए ज़िंदगी गुजारना ये भी कोई ज़िंदगी है काश हमारी जिंदगी का मिशन न तो दुनियावी कारोबार हो न ही ये दुनियावी सारे लवाजमात हो हमारी जिंदगी का मिशन मकसद इस्लाम की खिदमत हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम तोक़ीर मोहब्बत और इश्क को आम करना हो अल्लाह हम सब को खादिम कुरान बना दे आपको याद रहे कि हमारा जो मौजू था उस मौजू की यूं तो इब्तदा तहफ़ ईमान नशस्त है लेकिन उसमें हमने आपको ये बताया था कि बिदात जो है बिदत बुरे अकीदे का नाम है हकीकी तौर पर बिदत यही है बुरा अकीदा बुरे नज़रियात जो नज़रियात कुरान और हदीस और सहाबा और बुजुर्गान दीन के नज़रियात के खिलाफ हों इसीलिए जो तकदीर का इनकार करते हैं उन्हें बिदती कहा गया इसी तरह जो लोग इस चीज़ का इनकार करते हैं और कहते हैं यानी पुराने ज़मानों में मुख्तलिफ फिर पैदा हुए तो उसमें से एक फिर ये पैदा हुआ था वो ये कहता था कि इंसान अगर मुसलमान है और मुसलमान होने के साथ वो अगर कबीरा गुनाह कर ले तो वो काफिर हो जाएगा और कबीरा गुनाह करने वाला भी हमेशा जहन्नम में जलेगा तो ये अकीदा भी कुरान हदीस के खिलाफ है कि अगर कोई कबीरा गुनाह को कबीरा समझ कर करता है तो वो काफिर नहीं होता सिर्फ गुनागार है जैसे कोई शराब को गुनाह समझ कर पीता है तो शराबी तो है गुनागार तो है लेकिन काफिर नहीं है हाँ शराब को हलाल समझ कर पिए और हराम कतई को हलाल समझे तो काफिर होता है तो उनका अकीदा ये था कि जो नमाज ना पढ़े वो काफिर जो रोज़ा ना रखे वो काफिर जो जक़ात ना दे वो काफिर तो जक़ात ना देना और चीज़ है और जक़ात का इनकार करना और उसे फ़र्ज ना मानना और चीज़ है तो ये अकीदे रखने वालों को भी बिदती कहा गया इसी तरह बाज लोग ऐसे थे कि वो उस ज़माने में अकीदा रखते थे कि हमने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हम नेक अमल करें या ना करें हम डायरेक्ट जन्नती हैं न कबर में कोई तकलीफ होनी है न आखिरत में कोई तकलीफ होनी है और सिर्फ कलमा काफी है नमाज वगैरह की कोई जरूरत नहीं और ये भी आज से 800 900 साल 10 या 1000 साल या 1100 साल पहले ये फिरके पैदा हुए तो उसे भी बुजुर्गान दीन ने बिदती कहा कि यह भी अकीदा इस्लाम के खिलाफ है क्योंकि जो मुसलमान होकर गुनाह करेगा तो उसे सजा मिल सकती है वो अल्लाह ताला की रहमत है कि गुनागार मुसलमान को अगर अल्लाह ताला बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करना चाहे तो उसकी रहमत बहुत बड़ी है लेकिन ये कहना कि ईमान लाने के बाद अब अमल की कोई ज़रूरत नहीं ये अकीदा बिदत है और ऐसे लोगों को बिदती कहा गया अहले बिदत कहा गया इसी तरह एक फिर पैदा हुआ मोतजिला वो ये कहते थे कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है नवजबिल्ला मिजाल और जब उनसे कहा गया भाई ये कैसी बात आप कर रहे हैं तो वो कहते भाई कुरान फरमाता इन अल्लाह अलाकुल्ल शहीन कदीर बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो बंदा तो झूठ बोल सके और अल्लाह झूठ ना बोल सके तो फिर बंदा ज्यादा ताकतवर हो गया नवजबिल्ला मिजालिम तो उनका अकीदा था कि अल्लाह झूठ भी बोल सकता है धोखा भी दे सकता है दगा भी कर सकता है जिना भी कर सकता है नवजुबिल्लाजाल तो ये भी गुमराह लोग थे और उन्हें बिदती कहा गया ये अहले बिदत है इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है इसी तरह जिन लोगों ने यह कहा कि कुरान जो है ये पहले चालीस पारे थे अब तीस पारे रह गए और दस पारे जो हैं ये मिटा दिए गए तो वो भी बिदती हैं अहले बिदत हैं उनका अहल सुन्नत से ताल्लुक नहीं है तो इन तमाम बातों से पता चला कि जो बिदत है वो बुरे अकीदे को कहते हैं जितने बद मजहब बद अकीदा लोग हैं जितने अलिया के बेअदब गुस्ताख हैं जितने अलिया की शान और करामतों और उनके तसरुफात को नहीं मानते जितने साहबाई कराम के बेअदब गुस्ताख हैं जितने रसूलुल्लाह के बेअदब गुस्ताख हैं आपके इल्म पर और आपकी शान पर एतराज़ करते हैं इसके अलावा जो अल्लाह ताला के बेअदब गुस्ताख हैं जो कुरान की बेअदबी करते हैं जन्नत का मजाक उड़ाते हैं जहन्नम का मजाक उड़ाते हैं ये सारे बिदती हैं अहले बिदत हैं तो असल जो है बिदती का मतलब है बद मजहब बद अकीदा अहल बिदत का मतलब है बद मजहब बद अकीदा अब जहां तक ताल्लुक है कि बिदत जो है वो अमल से भी होती है तो उसमें भी अगर आप गौर से देखें तो बिदत अमल की वजह से नहीं है अकीदे की वजह से बिदत अमल की वजह से नहीं है बल्कि क्या है अकीदे की वजह से यानी जो चीज सुन्नत नहीं उसको सुन्नत समझना बिदत है तो बताइए काम करने की वजह से वो बिदत ही नहीं बना बल्कि किस वजह से बना उसने समझा गैर सुन्नत को सुन्नत समझा लिहाजा वो बिदती है जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत फैली है वो ये है कि कुर्बानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ पहले दिन की है पूरी सीरत में कोई एक वाक़ भी नहीं कि कुर्बानी आपने चौथे दिन की हो दूसरे दिन भी साबित नहीं तीसरे दिन भी साबित नहीं इसलिए कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि जब तक कुर्बानी न कर लें किसी सहाबी के लिए जायज ही नहीं था कि वह कुर्बानी करें एक सहाबी ने ख्याल किया कि अड़ोस पड़ोस को गोश मिल जाएगा तो उन्होंने हजूर से पहले कुर्बानी कर ली तो सूर्य हुजूरात की पहली आयत नाजिल हो गई कि ए ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो अब वो आगे तो बढ़े थे रसूलुल्लाह से किससे बढ़े थे और सूर्य हजरात की पहली आयत में क्या फरमाया अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो यानी अल्लाह के रसूल की तोहन करना ये अल्लाह की तोहन है अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ना ये अल्लाह से आगे बढ़ना है तो फरमाया अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो और मना कर दिया गया कि जब तक रसूलुल्लाह कुर्बानी ना कर ले कोई कुर्बानी नहीं कर सकता और फिर हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज पढ़ाई बकर ईद की आप जानते हैं कि ईद की नमाज में नमाज के बाद खुतबा होता है तो ईद की नमाज के बाद आपने खुतबा दिया और खुतबे में फरमाया कि हमने अभी ईद की नमाज पढ़ी है ईद की नमाज के बाद अब हम कुर्बानी करेंगे और जो ईद की नमाज से पहले कुर्बानी करे उसकी कुर्बानी न हुई फिर हदीस पाक में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप ईद की नमाज के फौरन बाद आप जो है खुतबे के बाद कुर्बानी किया करते थे सबसे पहले आप कुर्बानी करते फिर साहबा का नाम अपनी अपनी कुर्बानियां पेश किया करते तो जब हजूर ने दूसरे दिन कुर्बानी नहीं की तीसरे दिन कुर्बानी नहीं की और अब यह कहना कि चौथे दिन कुर्बानी करना ये हजूर का तरीका है हुजूर की सुन्नत फैली है तो ये गैर सुन्नत को सुन्नत समझना ये बिदत है यहां पर मैं अर्ज कर दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि चौथे दिन कुर्बानी करना सुन्नत है वो जो दलाइल पेश करते हैं उसमें कहीं भी ये लिखा नहीं है कि सुन्नत है वो दो हदीसें पेश करते हैं जिसमें यह है कि चौथे दिन कुर्बानी करना जायज है लेकिन ये एक ऐसा गिरोह है कि जिन्हें कहते हैं गैर मुकलदीन ये गिरोह ऐसा है कि अगर आप उसके सामने हदीस पेश करें हुजूर की शान वाली तो आपसे पूछेंगे कौन सी किताब में है बुखारी मुस्लिम तिरमिजी अबू दाऊद इबन माजा नसाई शरीफ ये छह किताबें सियासिता हैं सियासिता के माना यह है कि सही तरीन मुस्तनद तरीन छह हदीस की किताबें इसका यह मतलब नहीं कि इन छह के अलावा बाकी सारी किताबें गलत हैं बल्कि इसका मतलब यह है कि ये छह किताबें ज्यादा सही तरीन हैं कितनी किताबें हुई छह बुखारी मुस्लिम तिरमिजी अबू दाऊद इबन माजा नसाई अब बड़े लुत्फ की बात और मज़े की बात यह है कि हम रसूल्ला की शान की कोई हदीस पेश करें तो हमसे पहला सवाल यह होता है कि सियासत्ता में है अगर हम कहें नहीं सियासत्ता में तो नहीं दूसरी हदीस की किताब में है तो कहते हैं हम नहीं मानते और हम कहें कि जनाब सियासत्ता में है तो पूछते हैं बुखारी मुस्लिम में है और हम कहें बुखारी मुस्लिम में तो नहीं लेकिन हदीस की छह किताबों में से है इबन माजा में है नसाई शरीफ में है तो उस वक्त वो कहते हैं हम तो बुखारी मुस्लिम को मानते हैं और हम कहें यह हदीस बुखारी मुस्लिम ये मुस्लिम में है तो कहते नहीं मुस्लिम नहीं बुखारी को पेश करो और जब हम कहें यह हदीस बुखारी में है तो कहते हैं कुरान में दिखाओ यानी किसी तौर पर भी मानना नहीं है और बुखारी की हदीस पेश करें तो ज्यादा से ज्यादा ये कह देंगे कि यह हदीस ज़यीफ है जिस हदीस को इन्हें मानना नहीं होता वो कहते हैं हदीस ज़यीफ है या कहेंगे हदीस मौजू है मौजू का मतलब झूठी हदीस है मन घड़त है तो आप एक उसूल याद रखें जब भी कोई कहे ना कि यह हदीस मौजू है मन घड़त है झूठी हदीस है तो आप इससे पूछें कि यह हदीस लिखी किसने जैसे मिसाल के तौर पर शब बारात के बारे में जितनी हदीसें हैं अब चूंकि इन्हें शब बारात मनाना नहीं है और मुसलमानों में इंतजार पैदा करना इनका मकसद है क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें यही तरीका सिखाया कि मुसलमानों को लड़ाओ इंतशार पैदा करो तो पूरी दुनिया में जो मुसलमान काम करेंगे वो इनके नज़दीक गलत होगा और जो ये काम करेंगे वो सही होगा तो चूंकि पूरी दुनिया के मुसलमान शब बारात मनाते हैं और शब बारात की हदीसें सियासत्ता में है में है सियासत्ता में है इबन माजा की हदीस है तिरविजी शरीफ में है और दीगर किताबों में है तो इबन माजा भी सियासत्ता से है और तिरमिजी भी सियासिता से है सियासिता का मतलब क्या हुआ छह हदीस की सही तरीन किताबें लेकिन ये कहते हैं कि शब बरात की जितनी हदीसें हैं सब मौजू हैं सब मन घड़त और झूठी हदीसें हैं हम आपको एक बात सिखाते हैं कभी भी कोई कोई ऐसा शख्स मिल जाए तो इसे कहो ये बताओ कि तुम्हें ज्यादा तकवा मिला है कि इमाम इबन माजा को ज्यादा तकवा मिला था ने इमाम इबन माजा इमाम तिरमिजी वो तो बुजुर्ग हैं कि जिनकी विलायत जिनके इल्म जिनके तकवा और तहारत की गवाही सारे आलम ने दी है सदियां गुजर गई सब ये कहते हैं कि ये इमाम वक्त थे वली कामिल थे बताओ हमारे जैसा गुनागार आदमी भी झूठी हदीस अपनी किताब में लिख सकता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जो मेरी तरफ झूठ मंसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए तो क्या इब्ने इमाम इब्ने माजा इतने बड़े मुहदस इतने बड़ी वले का वलिय कामिल वो अपनी किताब इबन माजा में क्या मन घड़त मौजू हदीस झूठी हदीस लिख सकते हैं क्या इमाम तिरमिजी लिख सकते हैं क्या इमाम नसाई लिख सकते हैं क्या इमाम अबू दाऊद लिख सकते हैं क्या इमाम बुखारी लिख सकते हैं क्या इमाम मुस्लिम लिख सकते हैं क्या इमाम जलालुद्दीन सयूती लिख सकते हैं झूठों पर खुदा की लानत हो और इन बुजुर्गों पर अल्लाह ताला की मजीद रहमतों का नजूल हो असल में ये इन बुजुर्गों से मोहब्बत दूर करने का तरीका है और दूसरा जो तरीका है कि अंग्रेजों के दौर में अंग्रेजों ने इस फिर को प्रमोट किया और इन्होंने हदीस का जिक्र इस तरह किया इस तरह किया इस तरह किया कि जिस आदमी को इनकी हवा लगी हो ना वो हदीस पढ़ते हुए शक में मुबतला हो जाता है पता नहीं बुखारी की हदीस सही होगी नहीं होगी पता नहीं क्या होगा सबसे पहले अंग्रेजों ने गैर मुकलदीन को हवा दी और हदीस पर से लोगों का एतमाद और भरोसा उठा दिया फिर फिरका पैदा हुआ मिर्जा गुलाम कादियानी का और उसने कहा कि ये 200 हदीस जो हैं 200 हदीसें कि जिसमें है मैं आखिरी नबी हूं मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता इसने कहा ये 200 हदीसें जयीफ हैं मौजू हैं मन घड़त है मैं नहीं मानता इसको इन्हीं की कोशिशों की वजह से कादियानी फिरका पैदा हुआ लोगों का एतमाद हदीस से उठ गया फिर एक फिरका पैदा हुआ जो कहता था हसबना किताबुल्लाह हमें सिर्फ अल्लाह की किताब काफ़ी है भाई हदीस में तो पता नहीं ज़यीफ हदीस है मौजू हदीस मन घड़त हदीस है तो हमें हदीस पर भरोसा नहीं तो परवेजी फिरका पैदा हुआ सर सैद अहमद खान पैदा हुआ सर सैद अहमद खान पहले अहल हदीस था गैर मुकलद था परवेज गुलाम अहमद पहले गैर मुकलद था मिर्जा गुलाम कादियन ये भी गैर मुकलद था तो पहले ये गैर मुकलद बने और फिर इसके बाद कोई कादियनी बन गया कोई परवेजी बन गया क्योंकि ये हदीस ज़यीफ ये हदीस ज़यीफ हर हदीस को ज़यीफ ज़यीफ ज़यीफ क्या कहकर क्या होता है अब आप देखें ना ये इन्हीं की तो नवूसतें हैं कि आम आदमी के सामने आप हदीस पेश करें तो पूछता है मैं हदीस नहीं मानता मुझे कुरान सुनाइए कुरान में कहाँ लिखा हुआ है यानी आप कहें कि ये चीज़ हराम है रसूलुल्लाह ने हराम करार दिया बोला कुरान दिखाओ तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं ठीक है नमाज पढ़ते हो ना हाँ तो फजर की कितनी रकतें होती हैं दो रकतें फर्ज हैं कुरान में दिखाओ किधर लिखा है जोहर की चार रकतें फर्ज हैं बताओ कुरान में किधर लिखा है पूरी नमाज पढ़ने की तरकीब जो है वो कुरान में कहाँ लिखी है कि पहले अल्लाह उबर कहकर हाथ बांध रहे हैं फिर सना पढ़नी है फिर आउजो पढ़ना है फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है फिर सूर्य फातिहा पढ़नी है ये पूरी तरतीब कुरान में दिखाओ जिस चीज को मानना नहीं होता वो लोग या तो कहते हैं सियासत्ता में दिखाओ सियासत्ता में दिखाओ तो कहते हैं बुखारी में दिखाओ और बुखारी में दिखा दो तो कहते हैं फिर कुरान में दिखाओ और हकीकत ये है कि कुरान देख कर भी वो मानते नहीं है कुरान देख कर भी जिसको मानना नहीं होता वो नहीं मानते मैंने एक शख्स के सामने कुरान की आयत रखी मैंने कहा देखिए कुरान कहता है वह अल्लामा का मालम तकुन तालम इसका तर्जम आप करें ए नबी अल्लाह ने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप पहले नहीं जानते थे तो अब बता दो कि जब अल्लाह कहता है मैंने सब कुछ सिखा दिया तो कोई चीज नबी से पोशीदा हो सकती है और तो ये तो कुरान की बात है ना किसी मौलवी की तो बात नहीं है लेकिन नहीं मानना तो नहीं मानेंगे तो मैं उसको रहा था कि वो हमसे तो बुखारी का मुतालबा करें कुरान का मुतालबा करें और चौथे दिन की कुर्बानी के बारे में दो हदीसें पेश करते हैं ना ये कुरान की आयत है ना बुखारी में है ना मुस्लिम में है न तिरमिजी में है ना अबू दाऊद में है ना इबन माजा में है ना नसाई शरीफ में सिया सित्ता की किसी किताब में नहीं एक हदीस मजमा जवाइद की है और दूसरी हदीस कंजुल उमाल की है और ज्यादा मजे की बात यह है कि ये हदीस लिखते हैं कि रसूल्ला ने फरमाया चौथे दिन कुरबानी करना जायज़ है अपनी किताब में वो लिखते हैं और मैंने इनकी किताब में पढ़ा है लेकिन असल किताब को देखें तो वहां यह हदीस लिखने के बाद मुहदस लिखते हैं हाजा हदीस ज़यीफ उसी हदीस में लिखा हुआ है हाजा हदीस ज़यीफ लेकिन अपनी किताब में ये इबारत नहीं उतारते हाजा हदीस ज़यीफ बस यहां तक कि हजूर ने फरमाया कि चौथे दिन कुर्बानी करना जायज़ है और फिर मुहदस कह रहे हैं ये हदीस ज़यीफ है और ज़यीफ हदीस से ये मसाइल साबित नहीं हो सकते ज़यीफ हदीस से फ़जाइल तो साबित हो सकते हैं जैसे नमाज फर्ज है नमाज क्या है फर्ज है तो नमाज की फर्जियत ज़यीफ हदीस से साबित नहीं हो सकती नमाज की फर्जियत कुरान से साबित है हदीस सही और मुतावतरा से साबित है लेकिन नमाज के फजाइल पर कोई हदीस हो कि नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला ये ये बरकतें अता फरमाएगा और अगर वो हदीस जो है ज़यीफ हो यानी मौजू मन घड़त झूठी हदीस ना हो बल्कि क्या हो वो हदीस क्या हो जईफ हो तो इसका मतलब ये होता है कि इससे अकीदा साबित नहीं हो सकता इससे फ़र्ज साबित नहीं हो सकता इससे वाजिब साबित नहीं हो सकता इससे सुन्नत मक्दा साबित नहीं हो सकती हाँ इससे नमाज की फजीलत लोगों को नमाज की तरफ रागब करने के लिए इसको बयान करना जायज़ है ज़यीफ़ हदीस दूसरी कुरान की आयतों के खिलाफ ना हो जैसे मिसाल के तौर पर जमात की फजीलत है तो जमात जो है ये वाजिब है जमात बड़ी अहम चीज़ है और ये जमात का वाजिब होना सही हदीसों से साबित है लेकिन एक ज़यीफ हदीस है उसमें ये फजीलत है कि जब बंदा जमात से नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला की इतनी रहमतों को नजूल होता है तो ये हदीस का मकसद क्या है जमात की तरफ उभारना और इससे कोई अकीदा कोई मसला हमने साबित नहीं किया बल्कि क्या किया है उससे जमात के फजाइल की तरफ तरगीब पैदा हुई तो फिर उस सूरत में ज़यीफ हदीस बयान करने में हरज नहीं फिर दूसरा मसला यह कि लोगों ने समझा ज़यीफ का मतलब है कमज़ोर जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उसे ज़यीफ कहते हैं तो लोगों ने हदीस का भी मतलब यही समझ लिया कि ज़यीफ का मतलब है कमज़ोर हदीस है और सही का मतलब यह है कि सही और कहा जाए ये हदीस सही नहीं तो इसका मतलब हदीस गलत है ऐसी बात नहीं है लफ्ज सही ये फन हदीस की एक अतलाह है डेफिनेशन है इसका मतलब ये नहीं होता कि जो हदीस कहा जाए यदि सही नहीं इसका मतलब ये गलत है बल्कि मतलब ये है कि सही नहीं तो हसन लगैरी ही हो सकती है हसन ली जाती ही हो सकती है हदीस के मुख्तलिफ दर्जात हैं लेकिन ये जो गैर मुकलदीन है ये लोगों की नफ्सियात से खेलते हैं उनको पता है हमारे उर्फ में कहा जाए ये हदीस सही नहीं तो लोग क्या मतलब लेते हैं गलत है तो वो ये नहीं कहेंगे ये हदीस हसन गैरी ही बल्कि क्या कहेंगे ये हदीस सही नहीं तो सामने वाला मतलब ले लेगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये हदीस गलत है मैं आपको एक मिसाल देता हूं तिरमिजी के आगे नाम लगता है जामे तिरमिजी इबन माजा सुनन इबन माजा सुनन अबी दाऊद और बुखारी और मुस्लिम का आगे क्या लगता है सगी बुखारी सगी मुस्लिम तो क्या इसका मतलब यह है कि बुखारी सही है और मुस्लिम सही है बाकी सब गलत है ये एक फन हदीस की अतलाह है फन हदीस की क्या है एक असलाह है जिसके खास माना है कि हदीस का एक खास दर्जा है तो जब यह कहा जाए कि हदीस सही नहीं तो उससे पूछो भी सही नहीं तो क्या है हसन ली गई है हसन ली जाती है अगर ज़यीफ़ है तो कौन से दर्जे में ज़यीफ़ है फिर ये गैर मुकलदीन इस तरह भी धोखा देते हैं कि जैसे हदीस के अल्फाज होते हैं और सनदें होती हैं मसलन एक हदीस है कि जो शख्स बावजू सोएगा और इस हाल में वो इंतकाल कर गया तो उसे अल्लाह ताला शहादत का रुतबा अता फरमाएगा अब इस हदीस की कई सनदें हैं कई किताबों में यह हदीस है अल्फाज यही हैं लेकिन रावियों के नाम मुख्तलिफ हैं अब यह हदीस समझें कि पचास किताबों में है इसमें से तीन किताबों में जो सनद है वो ज़यीफ है और बाकी फोर्टी सेवन किताबों में जो सनद है वो सही है अब इनको यह हदीस अगर ना माननी हो मसलन तो वो क्या करेंगे जो तीन किताबों में सनद ज़यीफ है उस सनद का जिक्र करेंगे और कहेंगे इस सनद में फलां रावी है लिहाजा ये हदीस ज़यीफ है अब आम आदमी को तो नहीं पता होता कि यह हदीस पचास किताबों में है और 47 किताबों में सही सनत के साथ है और तीन किताबों में ज़यीफ सनत के साथ है लेकिन ये जब इनको किसी हदीस का इनकार करना होता है तो कौन सी किताब पकड़ते हैं वो कि जिसमें ज़यीफ सनत हो फिर ये कहते हैं कि फुला आलिम ये कहता है कि ये हदीस ज़यीफ है और आम लोगों को पता नहीं होता ये मुहदस जिसका नाम लेने ये कौन है ये इनका अपने घर का बंदा होता है जैसे नासिर अलबानी ये गैर मुकलद है नासिर अलबानी गैर मुकलद है और ये चौदहवीं सदी का मुल्ला है तो नासिर अलबानी इनका बंदा है और ये चौदहवीं सदी का है आम आदमी को तो इसका नाम नहीं पता तो कहेंगे कि इस हदीस के बारे में मुहदस कबीर मुहदस आजम जो भी अलकाब लगाने होंगे नासिर अलबानी यह कहता है ये हदीस मौजू मन घड़त है तो जब भी कोई कहे कि फुला ये कहता है तो पता तो चले वो फुला है कौन ये फुला है कौन तो ये अक्सर ऐसा करते हैं कि अपने ही बंदों का नाम मुहदस वगैरह लगा कर कहते हैं वो कहता है कि हदीस ज़यीफ है नासिर अल्बानी ने पता है क्या किया है नासिर अल्बानी ने हर किताब की दो किताबें निकाली हैं ये बड़ा मरदूद शख्स था सही तिरमिजी ज़यीफ तिरमिजी जो तिरमिजी शरीफ है उसको उसने दो तरह से शाया किया है जो जो हदीसें उसको पसंद आई हैं उसने कहा ये सही हदीसें हैं तो इसका नाम रखा सही तिरमिजी और जो जो रसूलुल्लाह की शान की हदीसें हैं जो हजूर की अजमत की हदीसें सारी जयीब करार देकर उसने किताब निकाली जयीब तिरमिजी सही इबन माजा जयीब इबन माजा सही नसाई जयीब नसाई अब जब गैर मुकलद के पास आप जाए और आप कहें कि जनाब ये तो इबन माजा में हदीस है तो वो कहेगा सब्र करो मैं आपको सामने लाता हूँ वो दोनों किताब सामने रखेगा और कहेगा देखें ये सही इबन माजा है ये जयीब इबन माजा है फिर सही इबन माजा में ढूंढेगा बोलेगा नहीं मिली आज हदीस जईफ है तो अब आम आदमी को तो नहीं पता होगा ये सही और ज़यीफ इन्हीं के मौलवी ने करार दिया और ये चौदहवीं सदी का मुल्ला है और ये इन्हीं से मुतासर है और इन्हीं का ये शेख है तो ये तो रसूलुल्लाह की हर अजमत वाली हदीस को निकाल देगा तो इन्होंने इस तरह किया सही जो तिरमिजी ज़यीफ तिरमिजी और पूरे आलम इस्लाम में फैला दिया अब ये पता करना क्या चाह रहे हैं करना ये चाह रहे हैं कि आज से 200 साल 300 साल के बाद ये होगा कि फिर लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे वो कहेंगे कि जनाब एक तो जो तिरमिजी सही है और एक गलत है हालांकि इमाम तिरमिजी ने ये दोनों जो जो इन्होंने हदीसें अलग अलग की हैं इमाम तिरमिजी ने अपनी एक ही किताब में लिखी हैं तो सोचें कि इमाम तिरमिजी जो कई सौ बरस पहले वली कामिल इमाम वक्त और बहुत बड़े मुहदस हैं उनसे ज्यादा चौदहवीं सदी का ये मुल्ला है नासिर अलबानी इसको ज्यादा समझ आएगी ये कहता है ये हदीस जो है गलत है इसको मैं निकालता हूं या जयीफ हदीस है तो ये बहुत बड़ी एक इनकी जो साजिश होती है कि वो इस तरीके से कलाम करते हैं फिर हदीसों में बाज हदीसें नासिक होती हैं बाज हदीसें मनसूख होती हैं बाज हदीसें क्या होती हैं नासिक होती हैं बाज क्या होती हैं मनसूख होती हैं लोगों को इतना इल्म नहीं होता तो वो हदीस पेश कर देते हैं जो मनसूख हो चुकी मसलन हदीस पाक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबीले के इमाम को जब मुकर किया तो छः साल के बच्चे को या पांच साल का एक बच्चा था आपने फरमाया ये तुम्हारी इमामत करेगा और वो पांच साल या छः साल का बच्चा पूरे कबीले की मस्जिद का इमाम था वह नमाज पढ़ाता था ये हदीस जो है ये इब्तदाई इस्लाम की बात है क्योंकि उस वक्त इस्लाम फैल रहा था और कबीले वाले कुरान नहीं जानते थे और ये बच्चा सबसे ज्यादा कुरान जानता था लेकिन फिर बाद में रसूलुल्लाह ने मना फरमा दिया तो मना वाली हदीस पेश नहीं करेगा वो ये हदीस पेश करेगा लेकिन उस हदीस में ये भी है कि वो जो बच्चा था जो बच्चा नमाज पढ़ाता था बच्चा तो बच्चा होता है आप, आप सोचे ना पांच साल के बच्चे की क्या उम्र होती है पांच साल का बच्चा किस क्लास में होता है अभी तो मेरा ख्याल है मॉन्टिसरी और नर्सरी शायद के जी वन के जी टू में होगा कितना छोटा बच्चा होता है तो वो जो नमाज पढ़ाते थे तो नीचे कुछ नहीं पहनते थे और ऊपर जो है वो जुब्बा पहन लेते थे जब वो सज्जा करते थे तो हवा आती थी जिससे इनका जुब्बा उठ जाता था और इनकी सितर खुल जाती थी और सब नमाज पढ़ते थे उनके पीछे हदीस में तो एक औरत गुजरी है उसने कहा कि लोगों तुम अपने इमाम के सितर को तो ढांको फिर लोगों ने जो है चंदा करके उनके लिए एक तहबंद खरीदा और उस बच्चे को पहनाया फिर वो नमाज पढ़ाता था तहबंद जो है पहन कर जो है पढ़ाता था तो अगर इस हदीस से बच्चे की इमामत साबित होती है तो इस हदीस से ये भी साबित होता है फिर कि सितर की भी जरूरत नहीं है हालांकि सितर करना क्या है जरूरी है तो वो इब्तदाई दौर के अंदर जैसे नमाज का हुक्म दिया गया तो आसानी दी गई फिर आहिस्ते आहिस्ते जब लोग आदि हो गए तो अहकाम आते रहे फिर पर्दे की हदीसों के बारे में भी तो है ना कि पहले साहबिया तो साहबी पर्दा नहीं करते थे पर्दे के अहकाम आखिर में आए इसी तरह शराब पहले हलाल थी बाद में हराम हुई इसी तरह पहले रसूलुल्लाह रफायदैन करते थे और रफायदैन की कई हदीसें लेकिन फिर आखिर में मना कर दिया मना वाली भी तो हदीसें हैं और फिर आपने फरमाया कि ये क्या तुम जो है घोड़े की दुमों की तरह अपने हाथों को उछालते रहते हो कोई जरूरत नहीं इसकी तो रसूल सल्लल्लाहु ने पहले तो इजाजत दी और बाद में मना कर दिया तो रफैदैन वाली सारी हदीसें मनसूख हदीस हैं लेकिन वो क्या करते हैं सारी मनसूख हदीसें वो पेश करते हैं इसकी नवूसत क्या हुई इसकी नहुसत ये हुई कि जो फितनाएं जदीदियत है इस वक्त कि जो जिद्दत पैदा करना चाहता है हमें मॉडर्न करना चाहता है उन्होंने क्या किया कि वो हदीसें पेश करनी शुरू कर दी जिसमें पर्दे का जिक्र ही नहीं है वो कहते देखो पर्दा कहाँ साबित फुला साहबी साहबियात से बात कर रहे थे जिहाद में ये एक साथ थे एक दूसरे की मरम पट्टियां हो रही थी तो आम आदमी को इतनी महारत नहीं होती वो कंफ्यूज हो जाता है तो वो सारी हदीसें मनसूख हदीसें हैं ये इब्तदा के अंदर इसकी इजाजत थी और बाद में पर्दे के अहकाम आ गए तो फिर तो कैसे सख्त अहकाम थे कि साहबी कहते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तहा के चेहरे को हमने देखा था जब पर्दे का हुक्म नहीं आया था जब पर्दे का हुक्म आ गया तो फिर अजवाज मतारात में से किसी खातून के चेहरे को फिर किसी और साहबी ने देखा ही नहीं इस कदर सख्त पर्दा होता था तो ये तो इस्लाम के इब्तदाई अहकाम हैं मुख्तलिफ हदीसें हैं लेकिन आम लोगों को ये पता नहीं होता इसलिए वो ये पेश कर देते हैं तो इसलिए अला हजरत इमाम अहल सुन्नत बड़ी प्यारी बात इशाद फरमाते हैं कि अगर ईमान की सलामती चाहते हो तो बदअीदा शख्स से बद मज़हब से यानी बिदाती से उसकी किताब से भी दूर भागो उसकी तकरीर से भी दूर भागो उसके पास बैठने से भी दूर भागो कि आग जहां भी लगी हो ना उसकी गर्मी जरूर मिलती है तो इनके दिल के अंदर बदअीदगी की आग लगी हुई है तुम इनके पास बैठोगे इनकी बातें सुनोगे तो इनकी आग का तुम पर असर जरूर आएगा अल्लाह ताला हमें ईमान की हिफाजत नसीब फरमाए इस तरह के बेशुमार मामला हैं कि जिसके अंदर वो इस तरह की बातें करते हैं मसल ये हदीस पेश करते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तहा ने फरमाया कि जो ये कहे कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह का दीदार किया वो झूठा है अब हम ये कहते हैं कि अगर इस हदीस का यही तर्जमा है और यही माना है तो फिर आप क्या कहेंगे कि सही सनत के साथ सही हदीस है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तनुमा रिवायत करते हैं और मुस्लिम शरीफ में हदीस है और सही सनद है क्या आप फरमाते हैं मुफसर कुरान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने दो मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार किया तो बताइए रसूलुल्लाह कह रहे हैं मैंने दो मरतबा दीदार किया और हजरत आयशा ये कहती है जो ये कहे कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह का दीदार किया वो झूठा है तो क्या रसूलुल्लाह झूठ बोल रहे हैं क्या हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास झूठ बोल सकते हैं उसकी सनत भी सही है अब ये तो नहीं हो सकता इस हदीस को माने दूसरी हदीस को ना माने बात यह है कि हजरत आयशा ने जब यह कहा कि जो ये कहे कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह का दीदार किया वो झूठा है उसका यह तर्जमा नहीं है तर्जमा यह है कि जो ये कहे कि रसूलुल्लाह की आंखों ने अल्लाह की जात का अहाता किया वो झूठा है ला तुदरिकुल अबसौर फिर हजरत आयशा ने यह आयत पढ़ी ला तुदरिकुल अबसौर आंखें अल्लाह की जात को घेर नहीं सकते तो हजरत आयशा किसका इनकार कर रही हैं रसूलुल्लाह ने अल्लाह की जात को घेर के नहीं देखा हुजूर की आंखों ने अल्लाह की जात को घेरा नहीं है क्योंकि अल्लाह को कोई घेर नहीं सकता और सबको अल्लाह घेरने वाला है तो ये हदीस भी सही है वो भी हदीस सही है ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह फरमाए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रावियों सही सनत के साथ और हजरत आयशा कहें कि जो ये कहे वो झूठा है तो फिर तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी झूठे हुए इमाम मुस्लिम भी झूठे हुए और सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि रसूलुल्लाह की तरफ झूठ मंसूब हो गया तो हजरत आयशा ये कह ही नहीं सकते तो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इनको पता है कि इस हदीस का ये मतलब है लेकिन जानबूझ के गलत तर्जमा जो मैसेज के जरिए आम करके लोगों को कन्फ्यूज करना मकसद है इनका मकसद ही यही है अंग्रेजों का एजेंड यही था एजेंडा ही यही था इंतशार पैदा करो नफरतें पैदा करो लोगों को दीन से बजन कर दो दूर कर दो इस तरह का मामला जो है वो आमतौर पर चलता ही रहता है तो आफियत इसी में है कि बंदा जो है अगर किसी मामले में चाहे वो जब ये देखे कि सामने वाला मेरी बात से हिदायत पाएगा तो किसी आलिम की तरफ उसकी रहनुमाई कर दे और जब ये देखे कि ये बदअीदा है खुद भी गुमराह है जो मुझे गुमराह करना चाहता है तो रसुल्ला ने फरमाया इनको अपने आप से दूर कर दो खुद तुम इनसे दूर हो जाओ कहीं तुम्हें गुमराह ना कर दें कहीं ये तुम्हें फितने में मुबतला ना कर दें गुजशत दर्स में हमने अहले तशी के मुतालिक चंद बातें समाप्त की थी और आपको बताया था कि साहिब बाहर शरीय सदरुशरिया बदरुतरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली ख़ान अलहमा बाहर शरीय के अंदर इन लोगों के बारे में जो बातें लिखते हैं तो आपने जिस किताब का हवाला दिया है वो मुहदस शाह अब्दुल अजीज़ देहलवी का हवाला दिया जो बुज़ुर्ग हैं और उन्होंने किताब लिखी है तोहफ़ाए इसना आशरिया सौ साल गुजर गए आज तक इसका जवाब कोई लिख नहीं सका उनकी असल किताबों से वो असल किताबें जो वो छुपाते फिरते हैं वो शाह अब्दुल अजीज मुहदस दहलवी ने बड़ी मुश्किल से वो किताबें हासिल की और इनका असल मजहब बताया कि इनकी असल किताबों में ये मजहब लिखा है और चैलेंज किया कि कोई एक भी हवाला मेरा गलत साबित करके दिखाए या जवाब लिख कर दिखाए दो सौ साल हो गए शाह अब्दुल अजीज मोहजिद दहलवी रहमत की ये किताब तोहफा इसना अशरिया का किसी ने जवाब आज तक न लिखा है ना वो लिख सकेगा तो उसमें आप ये लिखते हैं कि अहले तशी शिया हजरात रागजी इसी तरह आगा खानी इसी तरह खोजे यानी जो बोहरे जो बोहरी वगैरह हैं सब अहल तशी के गिरोह हैं मुख्तलिफ इनके फिरके हैं तो इनमें से बास का अकीदा है और अक्सर का यही अकीदा पाया जाता है कि बारह जो इमाम हैं हज़रत अली हज़रत इमाम हुसैन फिर इमाम जैनुल आबिदीन इस तरह वो बारह जो इमाम की तरतीब बताते हैं वो ये कहते हैं ये बारह इमाम हमारे अम्बिया से अफजल हैं इनका ये अकीदा आज भी मौजूद है ये बारह इमाम को तमाम नबियों से अफजल मानते हैं और हकीकत देखा जाए तो ये कहते ये हैं कि हुजूर सबसे अफजल हैं हुजूर के बाद बारह इमाम का दर्जा है और बारह इमाम के बाद अम्बिया का दर्जा है और जो नबी न हो गैर नबी को नबी से अफजल बताना कुफर है गैर नबी को नबी से अफजल बताना क्या है कुफर है लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो वो हुजूर से भी अफजल मानते हैं हजरत अली को क्योंकि इनका बुनियादी अकीदा यह है कि जबरील अमीन को अल्लाह ने हुक्म दिया था हजरत अली के पास वही लेकर जाओ जबरील अमीन से गलती हुई और वो वही लेकर हुजूर के पास चले गए तो गोया कि असल नबूबत तो ये किसके लिए मानते हैं हजरत अली के लिए लेकिन गलती में हजूर को मिल गई ना नाउजुबिल्ला मिजाल अब इस जुमले में कई कुफर हैं फिरिश्ता अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता गलती नहीं कर सकता ये कुफर और फिर ये कुफर के अगर गलती में वो चले गए थे तो फिर तो अल्लाह कह देता कि बस करो अभी क्या हो गया तुम्हें अब हजरत अली के पास जाओ एक दफा गलती में चले गए फिर जो तेईस साल तक वहीं जाते रहे नवज़बिल्लाजाले कि अल्लाह तबारक व ताली को भी झूठा करार देना है नवज़बिल्लाजाले तो ये इनके अकायद हैं एक अकीदा इनका यह है कि कुरान पाक महफूज नहीं है बल्कि उसमें से कुछ पारे या सूरतें या आयतें या अल्फाज अमीर अमीरमिन उस्मान गनी रदी अल्लाह तु या दीगर साहबा रिदवान तम अजमाइन ने निकाल दिए और ये तो मैंने खुद इनकी किताबों में पढ़ा है कि फलां सूरत में सेवेंटी सेवन आयतें ज्यादा थीं और सब अहल बैत के फजाइल में थी तो हजरत उस्मान गनी निकाल दिया यानी ये कहते हैं कि कुरान के जो दस पारे हैं ना वो दस पारे से इनकी मुराद ये होती है कि वो अलग से दस पारे नहीं थे सूरतों के अंदर आयतें थीं जो दस पारों के बराबर थे तो जहां जहां अहल बैत की शान में हजरत अली की शान में आयतें थीं तो हजरत सिद्दीक अकबर हजरत उमर और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तुम ने अहल बैत से बुक्स की वजह से वह सारी आयतें निकाल दी नवजुबिल्ला हमें अब कुरान नामुकम्मल हुआ क्या हुआ कुरान नामुकम्मल हुआ हजरत इमाम हुसैन अपनी जान दे देते हैं किस वजह से यजीद फासिक है और गुनागार के हाथ पर मैं बैत नहीं करूंगा अपने बच्चे भी लुटा देते हैं अपना घर बार लुटा देते हैं शहादत का अजीम रुतबा पाते हैं और हजरत अली सिद्दीक अकबर के दौर में ढाई साल हजरत उमर के दौर में दस साल और हजरत उस्मान गनी के दौर में बारह साल तो ये तकरीबन चौबीस साल हुए चौबीस साल पच्चीस साल तक हजरत अली खामोश है और कुरान में तहरीफ कर दी गई हजरत अली कुछ नहीं कह रहे ये मुमकिन है हजरत अली से फिर चले हजरत अली इन तीन दौर में तो कुछ ना कह सके जब साढ़े चार बरस तक आपकी खिलाफत थी तो आपने कुरान को क्यों मुकम्मल नहीं किया फिर इमाम हसन छह महीने तक खलीफा रहे तो आपने क्यों मुकम्मल नहीं किया फिर सवाल यह है कि बनु अब्बास के जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे ये बनु अब्बास की हुकूमत जो है 400 बरस तक रही तो 400 बरस तक इन्होंने कुरान को सही क्यों नहीं किया तो यानी आप देखें कि ये एतराज सिर्फ साहबा पर नहीं आता ये एतराज तो अहले बैत अथार पर भी आता है इनका यह अकीदा बुनियादी अकीदा है लेकिन जितने भी फिरके हैं उन सब में एक जो मुसीबत पाई जाती है वह है तकिया तकिया कहते हैं सुन्नी को बेवकूफ़ बनाने में सवाब मिलता है और राफजी तो ये कहते हैं कि ला दीना लिमन ला तकियत अल्लाह जो सुन्नी को बेवकूफ ना बनाए और उसके सामने झूठ ना बोले तकिया ना करे वो मोमिन ही नहीं वो मुसलमान ही नहीं तो इनके मजहब में तकिया करना फर्ज है तो लिहाजा वो आम लोगों के सामने यही कहते हैं नहीं जनाब हमारी ऐसी कोई बात नहीं लेकिन इनकी असल किताबों में आज भी ये कलाम मौजूद है और जो साहबा कराम के खिलाफ उन्होंने किताबें लिखी हैं उसमें बहुत सारी ऐसी रिवायतें उन्होंने डाली हैं कि साहबा ने अहल बैत की जो शान वाली आयतें निकाल दी मगर ताजुब है यानी सदर शरिया फरमाते हैं कि ये कुरान को नाकिस कहते हैं मगर ताजुब है कि मौला अली करमल्लाह ताला ने भी इसे नाकिस ही छोड़ा और ये अकीदा भी बिल इजमा कुफर है कि कुरान मजीद का इनकार है एक अकीदा इनका यह है कि अल्लाह ताला कोई हुक्म देता है फिर ये मालूम करके कि मसलहत इसके खिलाफ है अल्लाह को अफसोस होता है फिर दूसरा हुक्म नाजिल कर देता है नऊजुबिल्ला हमारा अकीदा क्या है सुनत जमात का अल्लाह ताला एक हुक्म देता है लोगों की आसानी के लिए और अल्लाह ताला जानता है कि ये हुक्म इतने पीरियड के लिए है जब वो वक्त पूरा हो जाता है तो दूसरा हुक्म आ जाता है ये नहीं कि अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया फिर बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ फिर दूसरा हुक्म दिया नऊजाले ये अल्लाह ताला की तोहन और कुफर है बारह सौ नौ हिजरी की बात है बारह सौ नौ हिजरी में एक शख्स था मोहम्मद बिन अब्दुलवाहाब नजदी ये जवान आदमी था और इसमें शोहरत की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा पाई जाती थी जब कोई आदमी दीन की तालीम हासिल करे और उसकी ख्वाहिश ये हो कि मेरा नाम हो मेरी शोहरत हो तो फिर उसके दो तरीके हो सकते हैं एक तरीका तो यह है कि वो उसी दीन पर चलता रहे लेकिन जो भी काम करे उसमें उसकी कोशिश हो कि मेरा नाम हो यह तरीका भी मजमूम है और उसमें उसको सवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा दीन का काम करने के लिए इतना इखलास होना चाहिए इतना इखलास होना चाहिए इमाम गजाली रहमा फरमाते हैं कि कोई शख्स गुना कर रहा है मसलन बादशाह गुना कर रहा है एक शख्स आगे बढ़ा बादशाह को गुना से रोकने के लिए समझाने के लिए और उसके पहुंचने से पहले दूसरा शख्स पहुंच गया और उसने बादशाह को समझा दिया अगर इसके दिल में यह आता है कि मैं क्यों ना पहुंचा मैंने क्यों ना समझाया तो हो सकता है इसके दिल में रियाकारी हो वो अपना नाम चाहता हो इसी तरह फरमाया कि जब तक वाज और नसीहत की जरूरत महसूस ना करे वो वाज और नसीहत ना करे जब तक अपने इल्म के इजहार की जरूरत महसूस ना करे अपने इल्म का इजहार ना करे हमने अपने इस को ये देखा खसूस हजरत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी दामद बरकतमलिया की मजलिस में बैठे हैं और आपको अल्लाह ताला ने वो इल्म से नवाजा है इतना इल्म से नवाजा है मैं आपको इनके इल्म की शान बताऊं एक दिन हमने अर्ज किया कि हजरत आप कंप्यूटर रखें अपने घर में तो कहा कंप्यूटर से क्या फायदा है तो हमने कहा कि आप हदीस का कोई भी लफ्ज लिखेंगे और सर्च करेंगे तो फौरन वो हदीस आपके सामने आ जाएगी तो हदीस ढूंढने में ये कंप्यूटर बहुत काम आता है तो आपने फरमाया कि कंप्यूटर जो है ये इससे गलत काम भी किए जाते हैं तो कंप्यूटर किसी ने घर में रखा है इंटरनेट अपने घर में लगाया है तो फिर उसका गुनाह से बचना बहुत मुश्किल होता है कुरान फरमाता है वला तकरबुल फवाहिशा ये नहीं फरमाता बेहयाई मत करो बल्कि फरमाता बेहयाई के करीब भी मत जाओ तो हमने अपने घर में टीवी रखा कंप्यूटर रखा इंटरनेट लगा लिया अब बेहाई का बिल्कुल करीब हो चुके हैं एक बटन दबाते ही बेहाई में पड़ जाएंगे अब बेहयाई के करीब जाना कोई मुश्किल नहीं है बेहाई में मुबतला होना तो हमने फरमा मुझे अपने नफ्स से डर लगता है मुझे अपने नफ्स पर भरोसा नहीं शैतान के हमलों से मुझे खौफ महसूस होता है कि इतना आदमी करीब हो जाए और फिर गुनाह से बचे ये बड़ा मुश्किल होता है और बड़े बड़े अल्लाह के वली वो गुनाह के करीब होने की वजह से तबाह हो गए और हजरत इमाम गजाली रहमा ने यही लिखा कि उन्होंने अपने नफ्स पर भरोसा किया और वो गुनाह के करीब हो गए अब मैं आपको क्या अर्ज करूँ जो परसों की बात है एक भाई ने ये बताया कि हमारे घर पे टीवी नहीं था और हमारी जोजा ने बहुत कहा कि जनाब अब टी वी रख लें टी वी रख लें कि इसमें दीनी प्रोग्राम आते हैं हम तकारीर सुनेंगे हम नाते सुनेंगे हम मक्के मदीने के नज़ारे करेंगे कहा मैं बातों में आ गया मैंने टीवी रख लिया तो चंद दिन टीवी रखा तो मैं भी गुनाह में पड़ गया मेरी जोजा भी पड़ गई मेरे बच्चे भी पड़ गए फिर उन्होंने कहा कि मेरे तीन रिश्तेदार हैं उनके घर में टीवी नहीं था दीनी प्रोग्राम के लिए टीवी रखा उन्होंने आज उनके बच्चे जो है टीवी में गुनाह जो है देख रहे हैं और हर प्रोग्राम उनके घर में चल रहा है अब वो खुद भी मुलविस हो गए क्योंकि एक बटन की तो बात है और नजर जब जब पड़ जाती है और आला हजरत क्या फरमाते हैं नजर बहकती है फिर दिल बहकता है और दिल बहकता है तो फिर गुना आदमी कर लेता तो नजर बहकते हुए जो देर नहीं लगती क्योंकि चैनल तो घुमाने पड़ेंगे तो आपने हमें कहा कि भाई मैं कंप्यूटर मैं नहीं रखूंगा तो कहने लगा हजरत ये बात तो सही है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त हमने कहा कि वाकई कंप्यूटर इंसान के पास हो तो 25-25 रुपए की सीढ़ियां मिलती हैं जिसमें सारी खुराफात होती हैं और इंटरनेट लग जाए तो फिर तो एक बटन दबाने की बात है तो इंसान को ख़ास तौर पर ओलमा को इस चीज़ से बचना चाहिए कि अगर उनके अंदर रूहानियत नहीं होगी तो दूसरों को क्या रूहानियत देंगे उन्हें तो बहुत ज़्यादा तकवा और परहेजगारी से मुजयन होना चाहिए हज़रत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तुम बैठे हुए थे तो नजासत से धुआं उठा और वो धुआं इनके कपड़े पर लगा तो आपने कहा मैं ज़रा कपड़े बदल कर आता हूँ ये नापाक धुआं मेरे कपड़े पर लगा है तो शागिर्दों ने कहा हज़रत ये क्या आपका तो फतवा यह है कि नापाक धुआं कपड़े पर लग जाए तो कपड़े नापाक नहीं होते आपने फरमाया वो फतवा है ये मेरा तकवा है वो दूसरों के लिए ये मेरे लिए है कि मैं इस नापाक धुएं से ही बचता हूं तो जब आदमी इतने तकवे के मकाम पर फाइज होगा तभी तो उसकी जबान का हर कौल फतवा बन जाएगा आज हजरत इमाम आजम को जो पूरी दुनिया मानती है तो इसी वजह से कि आप इतने मुतकी और इस कदर तकबे के फाइज थे कि आप जबान से निकलने वाला हर जुमला लोगों के लिए फतवा बन गया और वह सनत बन गया तो फिर हमने कहा हजरत फिर क्या करें बटन दबाते हैं हदीस जो है सर्च कर लेते बड़ा फायदा है वो उस साहब जलाल में आए और कहने लगे तू मुझे बता तुझे कौन सी हदीस ढूंढनी है हदीस का एक लफ्ज पढ़ मैं तुझे सारी किताबों के नाम बताऊंगा ये हदीस कहाँ कहां लिखी हुई है इतना इल्म इतना इल्म लेकिन हमने ये देखा उलमा की मजलिस में बैठे हैं बोलने की जरूरत नहीं दो दो घंटे तक खामोश बैठे हुए अपने इल्म का इजहार ही नहीं कर रहे क्योंकि ये तसव्वुफ यही है कि अपने इल्म का इजहार वहीं किया जाए जहां पर जरूरत हो और अल्लाह की रजा के लिए किया जाए तो एक तो ये होता है कि बंदा शोहरत के लिए अपने इल्म का इजहार करता है लेकिन वो मसला के हक्का से हटता नहीं और एक ये होता है कोई ऐसा काम करें नया काम जिससे लोग कहें कि जनाब बड़ी रिसर्च उसने की है बड़ी तहकीकत हुई है और लोगों में शोहरत हो कि ये बड़ा ही जो है मकाम पर पहुंचा हुआ है तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी में ये चीज पाई जाती थी वो ऐसा काम करना चाहता था कि लोगों में हो हो हो जाए शोर मच जाए तो इसको हेम्फर मिला आप इंटरनेट पर हेम्फर लिखकर सर्च करें तो उसकी पूरी जिंदगी के बारे में लिखा हुआ है हेम्फर इसको मिला जो मोहम्मद के नाम से बरतानिया का जासूस था और आलिम का उसने लिबादा ओढ़ा था कुरान और हदीस पर उसने 20 साल तक महारत हासिल की अरबी फरफर बोलता था और कुरान की आयत में फरफर सुनाता था हदीसें उसे फरफर याद थी लेकिन ईसाई था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ये नहीं जानता था कि ये ईसाई है इससे मिला और इसने कहा कि मैं ऐसे शख्स की तलाश में था कि जो हमारा अंग्रेजों का एजेंडा है वो उसको आगे बढ़कर चले मोहम्मद बिन अब्दुल्लाम नजदी की फितरत को मैंने महसूस कर लिया कि इसमें शोहरत की बड़ी भूख पाई जाती है तो मैंने फिर उसे कहा कि तू ऐसा काम कर कि तेरी शोहरत हो और फिर हमारी डिस्कस हुई और आखिरकार वो इसे इस बात पर कायल करने में बड़ी आसानी से कामयाब हो गया कि मुसलमानों में ये फितना पैदा किया जाए कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और उसके मानने वाले मुसलमान हैं और बाकी सारे मुसलमान मुशरक हैं काफिर हैं मुर्तद हैं बिदती हैं ये वो मानने के लिए तैयार हो गया और फिर उसने किताब लिखी किताब तोहीद किताब तोहीद को शुरू से लेकर आखिर तक कोई पढ़े तो पढ़ने के बाद वो कहेगा कि इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और जो इसके मानने वाले हैं वो मुसलमान हैं बाकी सब मुशरक हैं तो हजरत ने यहाँ पर सदर शरिया ने लिखा कि वहाबी एक नया फिरका है जो 1209 हिजरी में पैदा हुआ इस मजहब का बानी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी था जिसने तमाम अरब अगर आपको इसकी मजीद तारीख पढ़नी हो तो नीचे मकतबे पर किताब मौजूद है तारीख नजदो हिजाज वो तकरीबन 800 सफ़े की किताब है उस वक्त के अखबार और तारीखी किताबों के हवालों से उन्होंने बताया कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने किस तरह फितना फैलाया तारीख नजदो हिजाज फिर इनके मानने वाले किस तरह अंग्रेजों से मिल गए और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया जो उन्होंने ख़त्म किया और हमेशा के लिए दुनिया से अगर खिलाफत ख़त्म हुई है और सल्तनत उस्मानिया का जो तस्वुर ख़त्म हुआ है इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो नजदियों और सऊदियों का था ये इस किताब में सारे हवाले मौजूद हैं सबूत मौजूद हैं आप इसे पढ़ सकते हैं तारीख नजदो हिजाज़ और इंटरनेट पर अगर आप सल्तनत उस्मानिया लिखकर सर्च करें और उस्मानिया जो तुर्की की हुकूमत थी और पूरी दुनिया में हुकूमत थी उसके जवाल के इसबाब पढ़ें तो वहां पर इंटरनेट पर कई हवाले मौजूद हैं कि अंग्रेजों का और सऊदियों और नजदियों का माहिदा हुआ क्योंकि अंग्रेज ये समझते थे कि जब तक मक्के और मदीने में उस्मानी सल्तनत का असर रसूख है खिलाफत खत्म नहीं हो सकती अगर तुर्की में उनकी हुकूमत खत्म हो गई दुनिया में खत्म हो गई अगर मक्के मदीने में वो रहे तो कभी भी मुसलमान मुतहद होकर दोबारा एक सुल्तान पर एक खलीफे पर वो सब जमा हो जाएंगे तो उन्हें यहां से खत्म करना था अब अंग्रेज मक्के मदीने में खुद हुकूमत नहीं कर सकते थे क्योंकि मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो फिर इसलिए उन्होंने क्या किया उन्होंने नजदियों और सऊदियों से माहदा किया और चंद हजार पाउंड के अंदर ये बिक गए और उन्होंने जंग की 1924, 25 और 26 इन तीन सालों में खून रेज जंगे हुई हैं सल्तनत उस्मानिया अगर चाहते तो वो मक्के मदीने में अपनी हुकूमत बरकरार रखते लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मक्के मदीने का अदब नहीं कर रहे बहुत खून रेजी हो रही है तो इन्होंने फिर अपनी खिलाफत और अपनी सल्तनत के खात्मे का ऐलान कर दिया और कहा कि हम मक्के और मदीने की बेहरमती नहीं देख सकते और वो तबरुकात लेकर इस्तंबुल चले गए और आज भी वो तबरुकात जो है इस्तंबुल के अजायब खाने में मौजूद हैं ये कोई तासुब की बातें नहीं है जज्बाती बातें नहीं है ये तारीखी हकाइक हैं जिनको सभी मानते हैं दुनिया की ये तारीख का हिस्सा है और तारीख जो है वो हकीकत के पर्दे उठा देती है इस मजहब का बानी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी था जिसने तमाम अरब खसूस हरमैन शरीफैन में बहुत शदीद फितने फैलाए उलमा को कत्ल किया ये बात अल्लामा शामी ने लिखी है फतावा शामी किताबुल जिहाद में छठी जिल सफर नंबर चार सौ पर यह बात लिखी है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने बहुत फितने किए अहल सुन्नत को कत्ल किया और उनको मुशरक और मुर्तद कहकर उनकी गर्दनें उड़ा दी यहां तक कि उन्होंने लिखा बुजुर्गों ने कि उस जमाने में यह था कि मक्के मदीने में अजान के बाद असलात वसलाम का या रसूलुल्लाह पढ़ा जाता था मज़ारात बने हुए थे तो इन्होंने कई मज़ारात को शहीद किया और जो मोजिन वो मीनारे पर चढ़ता और अजान के बाद वो जब ये पढ़ता असलात वसलाम का या रसूलुल्लाह वो नीचे उठता था तो उसको कतल करते थे और कहते ये मशरक है साहब कराम और आइमा और और शहदा की खबरें खोद डाली ये आप क्या समझते हैं कि ये हजूर दातागंज बख्श के मज़ार अकदर से बम धमाका हो गया तो जिन लोगों ने भी करवाया उनका अकीदा क्या है पता है उनका अकीदा यह है कि वो जितने मज़ारात पाकिस्तान में हैं और इंडिया में हैं इनको वो सोमनाथ का मंदिर कहते हैं अपनी किताबों में लिखा है ये सोमनाथ के मंदिर हैं और इनको मिटाना और इनको ख़त्म करना ये हमारा दीनी फरीजा है और इनका ये अकीदा इनकी किताबों में लिखा है कि जो मज़ार पर हाजिरी के लिए जाता है वो काफिर है वो मुशरक है तो इसलिए अगर वो दाता दरबार पर बम धमाका करते हैं तो जितने मुसलमान मरते हैं उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं क्योंकि वो उनको मुसलमान नहीं मानते उनको मुशरक मुर्तद और काफिर मानते हैं इसीलिए तो फिर बाद में इनके जो रिसाले छपे उसमें उन्होंने कोई दाता दरबार के बम धमाके का अफसोस का इजहार नहीं किया बल्कि लिखा है अब देखें कितना जुल्म है उन्होंने लिखा लोग कहते हैं कि साहिब मज़ार बचा सकते हैं ये तो अपने मज़ार पर हाजिर लोगों को बम धमाके से नहीं बचा सके तो कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है अगर यही इख्तियार की दलील हो तो कल को कोई काफिर यह कहेगा जो अल्लाह को नहीं मानता होगा वो कहेगा मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह हमें बचाता है अल्लाह अपनी मस्जिदों को नहीं बचा सकता नाउजुबिल्ला मिजाल तो ये कोई ताकत का मैार नहीं है हमारा अकीदा है कि हकीकी ताकतवर तो अल्लाह ताला है और अम्बिया और अलिया को जो ताकतें हैं वो अल्लाह की अता से हैं और जब अल्लाह चाहता है तो वह अपनी ताकत का इजहार करते हैं क्या अकीदा है जब अल्लाह चाहता है तो वह अपनी ताकत का इजहार करते हैं सहाबाई कराम और आइमा और ओलमा और शहदा की कब्रें खोद डाली रोज़े अनवर का नाम माज अल्लाह सनम अकबर यानी बड़ा बुत रखा आज भी नजदीक यही कहते हैं किताबों में नहीं लिखते लेकिन अंदरून खाना आपको पता है इनका अकीदा है कि मजार के ऊपर गुम्बद बनाना बिदत है और रसूल सल्लाम के मज़ार अकदस पर गुम्बत है तो ये गुम्बत खजरा की दुश्मनी इनके दिलों में हमेशा से भरी हुई है ये जो लिटरेचर भी शाया करते हैं कि ये गुम्बत शहीद करना चाहिए लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो अभी तक कामयाब नहीं हुए वरना इनके नज़दीक ये गुम्बत जो है इन्होंने लिखा एक लिटरेचर मैंने पढ़ा है इन्होंने मक्के और मदीने में जो है मुफ्त उसको शाया किया था और मुफ्त बांटा था उसमें लिखा था यह सब्ज गुम्बद पूरी दुनिया में शिरक फैलाने का जरिया है नवजुबिल्लाजाल इसको ख़त्म होना चाहिए इसी तरह जो रसूलुल्लाह के रोज़े अकदर पर सुनहरी जालियां हैं इसको भी ये शिरक का जरिया कहते हैं क्योंकि इनका अकीदा है कि मज़ार के सामने जालियां लगाना यह भी हराम है और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़े अकदस है वो मस्जिद नबी शरीफ के अंदर है तो इनका अकीदा यह है कि मस्जिद के अंदर मज़ार होना यह भी शिरक है लेकिन ये सारे अकायद के बावजूद भी ये हुकूमत के बहुत सारे मामला में मजबूर हैं क्योंकि इस वक्त इनकी जो मामला हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड हैं एक है गवर्नमेंट एक मजहबी मामला अंग्रेजों ने मजहबी मामला नजदियों को दिए और गवर्नमेंट के मामला सऊदियों को दिए सऊदी जो हैं उनका मिशन सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो अपनी बादशाहत को कायम रखें और नजदियों का मिशन यही होता है कि मुसलमानों को काफिर मशरक और बिदती कहें तो जहां जहां सऊदी गवर्नमेंट ये समझती है कि इससे हमारी गवर्नमेंट का नुकसान होगा तो वो फिर उन्हें मना कर देती है तो सुनहरी जालियां शहीद करना या सब्ज गुम्बद शहीद करना वो जानते हैं कि जिस दिन ये हुआ मुसलमान एक तूफान बनकर उठेंगे और सऊदी गवर्नमेंट को ख़त्म कर देंगे इसलिए वो अपनी गवर्नमेंट के तहफ़ की खातिर इनके इन फतवों के बावजूद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं कि इससे बहुत बड़ा इंतजार होगा और हम मुसीबत में आ जाएंगे रोजे अनवर का नाम माजल्ला सन में अकबर रखा था यानी बड़ा बुत और तरह तरह के जुल्म किए जैसा कि सही हदीस में है हजूर अकदर सल्ला अलैहि ने खबर दी थी कि नजद से नजद से फितने उठेंगे और ये शैतान का गिरोह निकलेगा ये हदीस बुखारी शरीफ किताबुल फितन हदीस नंबर सात हजार चौरानवे सेवन थाउजेंड और 94 सफा नंबर बानवे पर है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया नजत से फितने उठेंगे और ये शैतान का गिरोह होगा वो ग्यारह वो गिरोह 1200 साल के बाद ये जाहिर हुआ अल्लामा शामी रहमान ने फतावा शामी में वहाबियों को खारजी लिखा जैसा कि फतावा शामी जिल्द छह सफा नंबर 400 पर यह इबारत मौजूद है इस अब्दुल वहाब के बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने एक किताब लिखी जिसका नाम किताब तोहीद रखा जिसमें तोहीद का जिक्र नहीं है अम्बिया और अलिया की तोहन का जिक्र है यानी इनके नजदीक अम्बिया और अलिया की तोहन ये तोहीद है अम्बिया और अलिया की अजमत और ताकत को ना मानना यह तोहीद है उसका तर्जमा हिंदुस्तान में इस्माइल दहलवी ने किया जिसका नाम तकवीतुल ईमान रखा और हिंदुस्तान में इसी इस्माइल दहलवी ने वहाबियत फैलाई इन वहाबियों का एक बहुत बड़ा अकीदा यह है कि जो इनके मजहब पर ना हो वो काफिर मुशरक है जो इनके मजहब पर ना हो वो काफिर मुशरक है यानी जो बात वो सही मानते हैं वो सही है और जिस बात को वो नहीं मानते और कोई कहे कि आप गलत कहते हैं तो वो उसको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं यही वजह है कि बात बात पर महज बिला वजह मुसलमानों पर शिरक और कुफर का हुक्म लगाया करते हैं और तमाम दुनिया को मुशरक बताते हैं चुनाचे तकवीतुल ईमान सफ़ा नंबर 45 इसकी इबारत को गौर से सुनिएगा आपको पता चलेगा कि वहाबियों और देवबंदियों के अकायद की बुनियाद क्या है तकवीतुल ईमान ये वहाबियों और देवबंदियों के अकायद की बुनियादी किताब है जो इस्माइल देहलवी ने लिखी उसके सफ़ा नंबर 45 पर लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिर जमाने में अल्लाह ताला एक हवा भेजेगा उस हवा के नाजिल होने से सारी दुनिया के मुसलमान मर जाएंगे जो सारी दुनिया से मुसलमानों को उठा लेगी हदीस पाक में है और उससे मुराद ये है कि कयामत आने से 40 साल पहले ऐसा होगा कितने साल पहले एक हवा चलेगी जो बगल के नीचे से चलेगी और उस हवा के चलने से जिसके दिल में भी राय के बराबर भी ईमान होगा वो इंतकाल कर जाएगा फिर पूरी दुनिया में काफिर और मुशरक ही मुशरक होंगे कोई मुसलमान नहीं होगा फिर जो कयामत आएगी काफिरों पर आएगी तो वो हदीस लिखी उस हदीस का खुलासा दूसरी हदीस में है कि वो कयामत से 40 साल पहले चलेगी लेकिन इसने ये हदीस लिखकर इसका माना क्या किया इस हदीस को लिखने के बाद साफ लिख दिया सो और रसूलुल्लाह के फरमाने के मुताबिक हवा चल गई और आज रुए जमीन पर कोई मुसलमान बाकी नहीं जरा गौर करें वो हवा चल गई और क्या कहता है इस्माइल देलवी आज रुए जमीन पर कोई मुसलमान बाकी नहीं अब सदर शरिया बदरुल तरीका हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली खान अल रहमा क्या तबसरा कर रहे हैं जरा सुने मगर इस नादान ने यह ना समझा इस सूरत में तो खुद भी काफिर हो गया भाई जब कोई मुसलमान ही ना रहा तो फिर खुद भी मुसलमान ना रहा इस मजहब का रुकन आजम बुनियादी रुकन जो है वो है अल्लाह की तोहीन और अल्लाह के महबूब बंदों की तजलील हर अमर में हर चीज में वो वही पहलू बयान करते हैं जिसमें नुक्स नजर आए मैंने आपको अर्ज किया ना हजरत आयशा की हदीस उन्होंने पेश की हदीस का गलत तर्जमा किया और कहा कि जो ये कहे कि हुजूर ने अल्लाह को देखा वो झूठा लेकिन ये बताइए कि हजरत आयशा का ये कौल है और वो रसूलुल्लाह का फरमान है तो फोकियत किस कौल को होती है अगर साहबी के कौल और रसूलुल्लाह के फरमान में तजाद हो तो हम अमल किस पे करेंगे रसूलुल्लाह के फरमान पर वो हदीस सही भी है और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि जो हजरत आयशा से ज्यादा इल्म रखते हैं और फिर हजरत आयशा की हदीस का माना भी ये नहीं है लेकिन कभी आपने आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी वाबी देवबंदी ने किसी अहल हदीस ने किसी तबलीगी जमात वाले ने आपको मैसेज वो वाली हदीस की हो कभी नहीं की हो वो हदीस पढ़ेगा तब भी वो भूल जाएगा उसको कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास सही सनत के साथ रिवायत है कि इसकी सनत को तमाम 1400 साल में तमाम मुहदसिन ने तस्लीम किया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने अपने रब को दो मरतबा देखा तो ये हदीस कभी आपको कोई मैसेज नहीं करेगा ना इनको ये हदीस जो याद होगी तो ये वो चीज़ें याद रखते हैं जिनमें उन्हें नुक्स नज़र आता है हकीकत में उसमें भी नुक्स नहीं होता ये अपनी गलत फहमी की वजह से नुक्स समझते हैं इस मज़हब के जो सरगरोह हैं यानी जो इसके सरदार हैं पेशवा हैं इनके बाज अकवाल जो सदर शरिया फरमाते हैं मैं यहां पर नकल कर रहा हूं ताकि हमारे अवाम भाई इनकी दिली खबासतों को जाने और इनके जाल से वो बचें इनके जुब्बा और दस्तार पर न जाएं बिरादरान इस्लाम बगौर सुने और मीज़ान ईमान में तोलें ईमान के तराजों में तोलें कि ईमान से ज्यादा अजीज मुसलमानों के नजदीक कोई चीज नहीं और ईमान अल्लाह और रसूल की मोहब्बत और ताजीम का नाम है ईमान के साथ जिसमें जितने फजाइल पाए जाए वो उसी कदर ज्यादा फजीलत रखता है और ईमान नहीं तो मुसलमानों के नजदीक वो कुछ वक़्त नहीं रखता अगरचे कितना ही बड़ा आलिम जाहिद दुनिया को छोड़ने वाला बनता हो मकसूद यह है कि उनके मौलवी और आलिम फाजिल होने की वजह से उन्हें तुम अपना पेशवा न समझो जबकि वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं क्या यहूदियों ईसाइयों हिंदुओं में भी उनके मजहब के आलिम नहीं हैं यह दुनिया को छोड़ने वाले नहीं होते क्या तुम उनको अपना पेशवा तस्लीम कर सकते हो हरगिश नहीं इसी तरह ये ला मजहब बद मजहब बद अकीदा किसी तरह तुम्हारे पेशवा नहीं हो सकते अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ईमान की हिफाजत नसीब फरमाए याद रखिए मुसलमानों पर कुफ, कुफर और शिर का इल्ज़ाम लगाना बिदत का इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ी दुश्मनों की साजिश है कि मुसलमानों में इंतजार पैदा करना नफरतें कायम करना बात बात पर शिर व बिदत के इल्ज़ाम लगाकर उनमें लड़ाई झगड़े पैदा करना अल्लाह ताला इन साजिशों जो साजिश करने वाले हैं उनसे मुसलमानों को महफूज फरमाए